यह चेद अभिदित पंचम मंत्र का पदभाष्य हो गया था वाक्य हर्ष हो गया था चलें प्रारंभ से चलेगा ना यह चेद अवेदित अवश्य कर्तव्य तो विपरे विनाश श्रुते यह चेद अवेदित ये मंत्र के द्वारा कहा गया अवश्य कर्तव्यताया उक्ति अवश्य करना चाहिए उसका कथन श्रुति के द्वारा आज्ञा अवश्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ज्ञान से अवश्य कर्तव्यता ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए तस्य उक्ति कथनम क्योंकि विपर्य विनाश सुते नहीं तो नचे देहावेदित महति विनष्टि विपर्य यदि प्राप्त नहीं कर पाए ज्ञान तो विनाश का महति विनष्टि विनाश सुते होने से टीका में यह चेद अविदित इत्यादि वाक्यार्थम संग्रहितम विरुणति इत्यादि दी यह चेद अविदित इत्यादि श्रुति वाक्य का अर्थ को संग्रह से कहा गया संग्रहितम संग्रह रूप से संक्षेप से कहा गया विनाश श्रुते यहाँ तक विवृणति उसका विवरण आगे यह मनुष्य जन्मनि सति अवश्यम आत्मा वेदितव्य इत्येतद् मनुष्य जन्म नहीं सदी मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर आत्मा अवश्य उसका ज्ञान प्राप्त करे विदितव्य आत्मा को जानना चाहिए ये श्रुति के द्वारा विधान किया जाता है कथम यह चेद अवेदित विदितवान कैसे विधान किया जाता है कथम प्रश्न हुआ यह चेद अवेदित यदि यह हाँ जान लिया विदितवान अथ सत्यमस्ति अथ सत्यम सत्य का अर्थ परमार्थ तत्वम अस्ति अवाप्तम सत्य परमार्थ तत्व ब्रह्म है सत्य परमार्थ तत्वम सत्यम अस्ति का तो अवाप्तम प्राप्तम परमार्थ तत्व को प्राप्त कर लिया अर्थात तस्य जन्म सफलम इति अभिप्राय सत्यमस्ति सफल है जन्म परमार्थ तत्व प्राप्त हुआ तो जन्म सफल हुआ पारमार्थिक तत्व की प्राप्ति से जन्म साफल्य बाकी जितने झूठे मिथ्या वस्तु की प्राप्ति से सफलता नहीं है परमार्थ तत्व से भिन्न जितने सब मिथ्या है उसकी प्राप्ति कुछ प्राप्ति नहीं है परमार्थ तत्व की प्राप्ति हुई प्राप्ति ज्ञान मात्र से अज्ञान व्यवधान है ज्ञान मात्र से अज्ञान निवृत्त हुआ तो नित्य प्राप्त है वही वास्तव प्राप्ति है जिससे जन्म की सफलता यह अभिप्राय है न चेदि हवेदित महति विनष्टि न चेदि हवेति न विदितवान तो वृथैव जन्म जन्म व्यर्थ हो गया ऐसे जन्म मरण तो अनादिकाल से कितने करोड़ों करोड़ बार चलता रहता है जन्म लेता है खा पी कर मरता है फिर जन्म लेता है फिर मरता है कुछ भोग करके मरता है ये इतने करोड़ों करोड़ बार हो गया ये भी एक जन्म यदि चला गया उसकी क्या गिनती है अनादिकाल से कितने जन्म गए होंगे अनंत जन्म में एक जन्म का क्या हिसाब है उसकी गिनती नहीं अनंत जन्म के सामने एक क्या कहेंगे एक जन्म के कितने गुना करेंगे तो अनादिकाल से जन्म जितने हिसाब हो जाएगा कुछ नहीं इसी का कोई गिनती नहीं से व्यर्थ है यह व जन्म व्यर्थ ही जन्म अपिच महति विनष्टि केवल व्यर्थ इतने नहीं महति विनष्टि महान विनाश विनाश क्या होगा यही विनाश है जन्म मरण प्रबंध आविच्छेद प्राप्ति लक्षण से आता जन्म मरण का जो प्रबंध प्रवाह चल रहा है उसका अविच्छेद विच्छेद नहीं चलता लगातार चलता रहेगा थोड़ा प्राप्त हुआ समय अवकाश विच्छेद के लिए चाहे तो वहाँ विच्छेद कर सकता है चक्र घूमते कहीं एक स्थान थोड़ा रहा जिसको उतना उतर जाओ जिसको पार है ना तो पार कर लो नहीं तो फिर घूमो भटको प्रबंध का विच्छेदन अभिषेद प्राप्ति लक्षण यही विनाश है यत तस्माद अवश्यम तद विच्छेदाय ज्ञे आत्मा इसलिए ये जो जन्म मरण प्रवाह चल रहा अनादि काल से नाम तो जन्म मरण ले लिया जन्म मरण के बीच में कितने कष्ट है अब मरने के बाद जन्म होने उसके बीच में भी कहाँ कैसे कहा रहता है ये सब बहुत कष्ट है ये समझ करके उसके अवश्यम तद विच्छेद आय ज्ञे आत्मा ये प्रबंध का विच्छेद जो प्रबंध अनादि काल से चल रहा है जिस प्रभा में आरूढ़ होकर के भटक रहा है उसके विच्छेद के लिए अवश्य ही आत्मा ज्ञेय अन्य कोई उपाय नहीं है आत्मा ज्ञान के बिना तो इसलिए उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ज्ञान न तो किम स्यादि तुच्यते आत्मा के ज्ञान होने से क्या होगा भूतेषु भूतेषु विचित्य दीरा भूतेषु भूतेषु का अर्थ चराचरेषु सर्वेषु इत्यर्थ चर अचर सारे भूत में सर्वत्र विचित्य का अर्थ क्या विचार्य पाठे विचार्य नहीं विचित्य बीच में विचार्य पृथक निष्कृष्य पृथक उसके समझ करके निष्कर्ष आत्मा अनात्मा का संघात है अनात्मा से पृथक निष्कर्ष करके स्पष्ट करके जान करके ये आत्मा है दृग्रूप चेतन शरीर क्षेत्र उसको जानने वाले क्षेत्रज्ञ चेतन दृग्रूप उसको निष्कर्ष स्पष्ट करके अलग समझे पांच कोष से अलग आत्मा को समझे पृथक निष्कृष्य देह तो पांच भौतिक का कार्य बहुत है एकम आत्मतत्व सर्वव्यापक एकम आत्मतत्व जो कि संसार धर्म अस्पृष्टम संसार धर्म का संबंध है ही नहीं आत्मा में असंगो ही अयम पुरुष संसार धर्म क्षुत पिपाशा जन्म मरण आदि उपाधि में देहादि में है देह इंद्रिय मन प्राण में आत्मा में है ही नहीं धर्म से अस्पृष्ट क्योंकि ये सब अध्यस्त आरोपित है आरोपित होने के कारण आरोपित धर्म अधिष्ठान से अधिष्ठान में संबद्ध नहीं है मरुभूमि में आरोपित जल से जैसे मरुभूमि पृष्ठ नहीं संबद्ध नहीं मरुभूमि के साथ उसका संबंध नहीं है इसी प्रकार आत्म तत्व पारमार्थिक सत्य अधिष्ठान है बाकी सारे संसार आरोपित अध्यस्त है अध्यस्त धर्म से अधिष्ठान संबद्ध नहीं होने से संसार धर्म में अस्पृष्टम ऐसा आत्म तत्व उसको विचित्य का था उपलभ्य ज्ञात्वा अब कैसे ज्ञान होगा आत्म भावेन उपलभ्य आत्मत्वेन अस्मि इदंत्वेन इदृक्त्वेन इसी प्रकार इस प्रकार ऐसा नहीं अहम अस्मि से उपलभ्य तो विचित्य चिन्ह चयन का अर्थ इकट्ठी करना तो उपलब्धि ज्ञान अर्थ कैसे होगा अनेकार्थत्व धातु नाम धातु नाम अनेकार्थत्वात् धातुओं का अर्थ बहुत है धातु पाठ में जो दे के एक अर्थ दे दिया उसको कहते उपलक्षण भू सत्तायाम पट व्यक्तायाम आजी एक एक अर्थ दे दिया उपलक्षण है धातुओं का अनेक अर्थ है कहीं कहीं उपसर्ग न धातुर्थ बड़ा धन्यत्र नियते आगे आहार विहार प्रहार परिहार संहार परिहारवत धातु का अर्थ बहुत है उपसर्ग जड़ने से वो अर्थ का द्योतन प्रकट होता है अर्थ है धातु का उपसर्ग का अर्थ नहीं ह्रिय हरण धातु है आंग लगा दिया पहले तो आहार प्र लगा दिया तो प्रहार सम लगा तो संहार वि लगा तो विहार ये वि सम प्र आ इनका अर्थ कुछ नहीं है ये तो केवल अर्थ का द्योतक है उपसर्ग वाचक नहीं है उनका कोई अर्थ नहीं धातु तो हिनी हरण्य धातु का ही अनेक अर्थ हाँ उपसर्ग लगाने से अन्य अन्य अर्थ का ज्ञान होता है तो विचित्र का अर्थ उपलभ्य ज्ञात्वा धातु अनेक अर्थ कौन से न पुनश्चित्वा इति संभवति चिया चयने चित्वा इकट्ठी करके ये संभव न संभवति विरोधात विरोधे आत्मा का चयन करना इकट्ठी करना ये संभव नहीं है इष्ट का चयन तो होता है इटिका का बनाते कर्म करने के लिए वेदी इटि लगा कर करके आत्मा का ऐसे चयन नहीं हो सकता विरोधात ठीक है मैं विरोधात के लिए एकस्मिन चिन्ह चिन्मात्रे चयनस्य ऊर्ध्व ऊर्ध्वाधुदेश निवेशनस्य इष्टका का नाम एव असंभवादित्यत चिन्मात्र एक ही है निरवय है चयन उसमें कैसे होगा चयन होता है इष्टका का चयन होता है ईटी को ईटी का चयन कर्म करने के लिए ऊर्ध्वाधोदेश सन्निवेशनस्य ऊपर नीचे नीचे ईट रखा पास में का ऊपर रखा ऐसे ईट करके बनाते हैं वेदी अब वेदी नहीं इष्ट का चयन करते हैं कर्म करने के लिए ऊर्ध्व अधोदेश निवेशन से ऊपर नीचे देश में रखना ईट को इष्ट का नाम यथा चयन संभवती इष्ट का नाम इव इष्ट का तो चयन हो जाएगा अलग-अलग ईटे अलग-अलग रखेंगे किंतु एक ही आत्म तत्व तो, और एक होने पर वो भी सावयव या निरवयव यदि सावयव होता तब तो ठीक है कोई बात नहीं कुछ संशय में दूसरे रखेंगे एक पट है सावे वेद तो पट में तो थोड़ा थोड़ा करके के अधिक रख देते किंतु निरंश निरवे भी चिन्ह मात्र ऊपर नीचे इसको रखना ये संभव नहीं इष्ट का को जिस रखते असंभवाद ये विरोध होने से चित्वा का अर्थ ज्ञात्वा उपलब्ध न पुनः चित्वा इति संभवति विरोधात् भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा धीरा का अर्थ धीमंत विवेकिना धीमंत धीरा बुद्धिमान धियम राति धीरा रात रात धीरा धीरा बहुवचन बुद्धिमान धीमंत बुद्धिमान विवेकिना विवेकी किसको कहेंगे विवेक हुआ करके यदि आत्मानात्म विवेक हो जाएगा आत्मा को समझ लिया अनात्मक मिथ्या समझ लिया जिसको मिथ्या समझ रहा उसको किस के कितने पकड़ कर लेना है मिथ्या समझने पर उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है सत्य समझे कोई वस्तु है तो रखे काम में आएगा देखा फल रखा गया रास्ता में चलते खाने के लिए भूख लगी तो खाएंगे फल ले रखते हैं यदि पता चला ये फल नहीं मिट्टी के बना हुआ कितने किलो ढोकर के लेना पाँच दस किलो लेकर जाना है मिट्टी के पत्थर के बना हुआ ऊपर रंग किया गया बड़े बड़े सुंदर फल झूठा तो वहीं फेंक देना है इसी प्रकार यदि आत्मा अनात्म विवेक हो जाए तो आत्मा से भिन्न बाह्य विशेष तो अनात्मा है अनात्मा विषय में मिथ्या विषय में अभिलाष इच्छा समाप्त हो जाती है विनिवृतः बाह्य विषय अभिलाषा येषां ते विनिवृत बाह्य विषय अभिलाषा बाह्य विषय में तो अनात्म विषय में अभिलाषा समाप्त नष्ट हो गई यही विवेकी है जब तक तो बाह्य विषय में इच्छा ऐसा ना इच्छा है तब तो विवेक नहीं हुआ अपने में विचार करे विवेक हुआ या नहीं हुआ साधन चतुष्टय में विवेक वैराग्य आया विवेक होने पर वेदांत श्रवण करने का अधिकार अपना विचार करे विवेक हुआ या नहीं हुआ भगवान भाष्यकार अर्थ करते विवेकी किसको कहा जाएगा विनिवृत्त बाह्य विषय अभिलाषा वो नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ करे कैसे पता चलेगा आत्म सत्यम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये नित्यानित्य वस्तु विवेक वो तो बोध पढ़ते रट कर सब बोल देंगे किंतु वो विवेक हुआ या नहीं हुआ रट कर बोल देना और होना में अंतर है खा करके कहेगा मधुर नहीं शब्द क्या बोलो मधुर मधुर कह दिया मीठा कह दिया कड़वा कड़वा दवाई खिला बोलो मधुर बच्चा बच्चा कहता मधुर बहुत मीठा बोलो बहुत मीठा इसी प्रकार शब्द से रट कर करना नहीं विवेक हो गया कैसे पता चलेगा निवृत्त विनिवृत्त बाह्य विषय अभिलाषा बाह्य विषय अनात्म विषय अभिलाषा समाप्त हो गए तो विवेक हुआ अनात्म विषय अभी आशा है इच्छा है तभी विवेक नहीं हुआ प्रत्यय अस्मालोकादमृता होती प्रत्यय का अर्थ मृत्यु उसमें प्रत्यय का अर्थ व्यावृत्य अहम मम भाव को छोड़ करके यहाँ प्रत्येकता जता शब्द अकारते मृत्यु अमर करके अस्मालोकात अस्मालोकात शरीर आदि अनात्म लक्षणाद ये लोक शब्द से लिया शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि जिदेय अनात्म लक्षण शरीर लोक से व्यावृतम व्यावृत मम तो अहंकार असंत ये शरीर से अस्मालोकात व्यावृत ममत्व अहंकार ममत्व अहंकारा व्यावृता ममत्व अहंकारा येषाम ते व्यावृत ममत्व अहंकारा देह में अहंत्व अहंकार और ममत्व देह में अहम बुद्धि देह संबंधी ममत्व बुद्धि ये समाप्त हो गया तब अस्मालोकात प्रत्य अमृता भवंती मर करके के देह आदि में आत्मबुद्धि छोड़ने पर अमृता भवंती अमृता अमरण धर्माणो अमरणम धर्म ये शामते अमरण धर्मान अमरण धर्म वाले हो जाते हैं अर्थात मृत्यु को जीत लेते मरण प्राप्त नहीं करते नित्य विज्ञान अमृतत्व स्वभावाय भवन्ति नित्य है विज्ञान अमृतत्व स्वभाव ब्रह्म अमृतत्वम स्वभाव येषां ते नित्य विज्ञान अमृतत्व स्वभावा ब्रह्म का स्वभाव है नित्य विज्ञान अमृत रूप है जो उसको जान लेता है ज्ञान प्राप्त कर लिया अहम अस्मि करके मैं ही हूँ मैं ही ब्रह्म कहने से ब्रह्म का स्वरूप अपने स्वभाव एक ही है अज्ञान नष्ट हो गया अमृत स्वभाव एवं भवंती भवंती का तो पहले नहीं था बाद में होता ऐसा नहीं भ्रांति की निवृत्ति हो गई तो तद्रूप हो गया मुक्त स्वरूप रहता है पंचम मंत्र समाप्त हुआ द्वितीय खंड अभी षष्ठ मंत्र पंचम मंत्र साथ प्रथम चौथ दस मंत्र इसके लिए पदभाष्य अस्सी में हाँ उत्तर ग्रंथ से प्रतीक मादय तात्पर्य माह उत्तर ग्रंथ मंत्र का प्रतीक लेकर के थोड़ा ग्रंथ मंत्र का थोड़े वाक्य पद लेकर के उसका तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते हैं ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञे ये उत्तर ग्रंथ का प्रतीक ले लिया आगे कहेंगे ब्रह्म देवे विजिज्ञे जिज्ञ विजिज्ञे सन लिटर्जी जय कुत्तो हो जाता है ब्रह्म परमात्मा ने जय प्राप्त कर ली देवताओं के लिए जीत जय धातु का पूर्वक जिज्ञे हां परावज्य आत्मा ने बता कुत्तो कैसे होगा जिज्ञे सन लिटर्जी सन और लिट पड़ते जी के तो कुत्तो होता है जिज्ञे विजिज्ञे जीत लिया देव ब्रह्म देवताओं के लिए अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानतम इत्यादि श्रवणाद ये पहले कहा विजानताम अभिज्ञातम जो ब्रह्म को जानते उनके लिए ब्रह्म विषय नहीं होता अज्ञात नहीं होता अभिज्ञात होता है और अभिजानताम जो बिल्कुल देहादि में हम बुद्धि करते हैं उनके लिए विज्ञात होता आत्म तत्व इत्यादि श्रवणाद यद अस्ति तद विज्ञातम प्रमाणित कोई वस्तु है तो प्रमाण से उसका ज्ञान होगा जो है प्रमाण ही विज्ञात होती जो नहीं है वो ज्ञान कैसे होगा अभिज्ञात होगा यह नास्ति तद अभिज्ञातम सस विषाण कल्पम जैसे सस विषाण करोगे उसका सिंह है नहीं तो उसका ज्ञान कैसे होगा सत असत हो गया अत्यंतमेव असदृष्टम अत्यंत जो असत्य हो विज्ञात नहीं होगा उसका ज्ञान नहीं होगा है नहीं प्रमाण से ज्ञान नहीं हो सकता है तते इदं ब्रह्मा अभिज्ञातत्वात् मंदबुद्धिना मन्दबुद्धिनां व्यामो महाभूतिति तदर्थ यम आख्याय का आरभ्यते मंदबुद्धि वाले के मन में क्या आएगा ये ब्रह्म अभिज्ञात है इसलिए असत होगा तथा इदम जैसे सस्य विषाण अत्यंत असत है उसका ज्ञान नहीं होता प्रत्यक्ष प्रमाण से इसी प्रकार ब्रह्म अभिज्ञातत्वात् ब्रह्म अभिज्ञात होने के कारण असत एव सस्विशान जैसे ब्रह्म ऐसे होगा असत तुच्छ होगा इति मंद बुद्धि नाम व्याम हो महाभूत मंद बुद्धि वाले के ब्रह्म हो ब्रह्म नहीं हो ब्रह्म निवृत्ति के लिए तदर्था यम आख्याय के आरभ्य थे उसके लिए ब्रह्म निवृत्ति के लिए भ्रम नहीं हो यह आख्याय का आरंभ किया जाता है ब्रह्म नहीं कैसे कहेंगे तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकार प्रशास्त्री देवानाम अपि परो देव अपि ईश्वरो दुर्विज्ञो देवानाम जय हेतु असुराणाम पराजय हेतु तत्कथम नास्ति एतस्य अर्थस्य अनुकूलानि उत्तराणि वचन सिद्धिस्यन्ते इसलिए यही व्यामोह ब्रह्म निवृत्ति के लिए तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकार प्रशास्त्री वही ब्रह्म सब प्रकार सब को शासन करने वाले देवानामपि परो देव देवताओं भी देव है पर है ईश्वराणामपि ईश्वर ईश्वर में भी ईश्वर एक षष्ठ्यंत के प्रथमांत कौन से राजाओं का राजा राजा में जो आ गए उनसे भिन्न है राजाओं का राजा प्रथमांत ईश्वराणाम ईश्वर जितने ईश्वर तेने प्रसिद्ध है उनमें भी स्वर दुर्विज्ञ देवानाम दुर्विज्ञ हो ब्रह्म दुर्विज्ञ देवानाम जय हेतु असुरानाम पराजय हेतु देवता की जय का हेतु है परब्रह्म और असुरों की पराजय का हेतु है परब्रह्म ऐसे जो जय पराजय के हेतु है ईश्वर नाम है ईश्वर देवताओं की भी देव सब प्रशासन करने वाले तत्कथो नास्ति तत् नहीं कैसे होगा बिल्कुल असत कैसे क्या करेगा शासन करने वाला जय पराजय हेतु कैसे नहीं है नहीं कैसे हो सकता है इस अर्थ से अनुकूलानि ही उत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते इस अर्थ के अनुकूल वचन आगे दिखता है इसलिए मंदबुद्धि का व्यामोह निभ्राम नहीं हो इसलिए आख्यायिका का आरंभ है वक्षमान आया नहीं नहीं अथवा ब्रह्म विद्या स्तुतये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए आख्याय के आगे की कथम ब्रह्म विज्ञानाद्यग्न्यादयो देवा देवानां श्रेष्ठतम जगमस ततोपतितराम इंद्र ब्रह्म विज्ञान से ही अग्नादि देवता देवानाम श्रेष्ठत्व जगु देवाना मध्य सारे देवता में अग्नि इंद्र वरुण श्रेष्ठत्व को प्राप्त किया ततोपि अतितराम इंद्र उनमें भी श्रेष्ठ अतितर इंद्र हो गया क्योंकि उसमें इंद्र ने पहले जाना इसलिए ब्रह्मविद्या की स्तुति के लिए अथवा दुर्विज्ञ ब्रह्महिते तत् प्रदर्शित आख्याय के द्वारा यही दिखाएंगे ब्रह्म दुर्विज्ञ दुर्विज्ञा दुखे न प्रयत्न कर्ण से विज्ञ होगा प्रमाद से ऊपर ऊपर से नहीं प्रमाद से ही बहुत समय बहुत नष्ट करते समय जीवन में समाप्त हो जाता है प्रमाद को मृत्यु रूप से कहा गया दुर्विज्ञ कर्ण से प्रयत्न करने पर ज्ञेय होगा ब्रह्म इसको दिखाते हैं आख्याय के द्वारा येन अग्नि आदयो अति तेजसोपि क्लेशनेव ब्रह्म विदितवन्तस् तथेन्द्रो देवानाम ईश्वरोपि सन्निधि इति विराम येन अग्न्यादि अति तेजस्व अति तेज है अग्न्यादि सब जानते देवता समर्थ है तो भी क्लेश ने ब्रह्म है ऐसे नहीं सीधा चले गए ज्ञान हो गया ऐसा नहीं क्लेश से उनको ज्ञान हुआ तथा इंद्रो देवानाम ईश्वरोपि सन् इति देवता का ईश्वर होते हुए भी इंद्र उनको भी जा करके देखा तो छिप गए तो वहाँ समाधि लगा ध्यान किया तो उनको भी ज्ञान हुआ क्लेश से ये देवताओं का असर होता हुआ अभी अथवा आगे कहते टीका में अभिप्रेतम तात्पर्य माह वक्षमानिति तात्पर्य कहते वक्षमान उपनिषद विधि परम सर्वम आगे उपनिषद कहेंगे उपासना संहितोपनिषदावोपमे जीविक उपनिषदावोपमे जीविका उपनिषद उपनिषद उपनिषद कृत्य रहस्य को उपनिषद शब्द से कहा यहाँ उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या नहीं यहाँ उपासना उपनिषद उपास रहस्य उपासना ब्रह्म का नाम कहेंगे उसके विधान करने के लिए सर्व आख्याय का प्रवाह ठीक है मैं उत्तमाधिकारी गोचरम अविषयम ब्रह्मात्मता ज्ञानम पूर्वोत्तम उत्तमाधिकारी का विषय ब्रह्म अविषय है अन्य देवता द्विदिता तत् अविदिता तदि कहा ब्रह्मात्मता ज्ञान पूर्वोत्तम उत्तरत्र तो मंदाधिकारी गोचरम मंदाधिकारी का विषय सगुण ब्रह्म उपासना मंदाधिकारी सगुण ब्रह्म उपासना कहेंगे तत् तत्परम वक्षमानं सर्ववाक्यजातम स्पष्ट विधि दर्शनात् सगुण ब्रह्म उपासना पर का के वाक्य है स्पष्ट विधि होने से अतो अत्रैव तात्पर्यम ब्रह्म सगुण ब्रह्म उपासना में तात्पर्य है तो दो तीन चार प्रकार क्यों कहा गया अर्थांतर तात्पर्य प्रदर्शन तो संभावना मात्र नित्य द्रष्टव्यम अन्य अर्थ में तात्पर्य से जो कहा गया ये भी संभव है हो सकता है भाष्य में ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणिनाम कर्तृतात अभिमान मिथ्येते तदर्शनार्थम वाक्यायिका ब्रह्म विद्या के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ और बाकी जितने भी हो जाए कर्तृतादि अभिमान मैं करता हूं बड़े राजा सम्राट कर्तृतादि अभिमान जितने भी अभिमान झूठा मिथ्या है ब्रह्म ज्ञान हो तो सार्थक उसके बिना कुछ भी हो जाए करोड़ों करोड़ रुपया इकट्ठे कर दे भक्त भी इकट्ठे हो जाए मकान में बहुत बना दे सम्राट भी हो जाए मर जाएगा गया उसके साथ कोई संबंध नहीं जुटा है इसको दिखाने के लिए का यथा देवानाम जयादि अभिमान तद्वत देवताओं का अभिमान हो गया हमने जीत लिया हमारी जय हो गई वो अभिमान जैसे मिथ्या है इसी प्रकार कोई भी अभिमान मिथ्या है इसलिए पहले ज्ञान के साधने में अमानित्वम रखा अमानित्वम अदम्भितम मान होता है मत सम को विनास्ति मेरे जैसे कोई नहीं ये शब्द कहने अंदर से भावना कहीं उत्कर्ष तो सहन नहीं होगा अपने में कमती देखे तो बहुत कमती है क्या क्या आता है विचार करें क्या क्या नहीं आता है विचार करें आता है जितने नहीं आता उससे अधिक कुछ आता है उसके लिए अभिमान कुछ बहुत नहीं आता उसके लिए अपने को मूर्ख समझना चाहिए जितने आता है उसे नहीं आता है बहुत है कितने पदार्थ नहीं आता है बहुत पदार्थ है सब ज्ञान नहीं है वाद्य बहुत प्रकार है सब वाद्य बजाना भी नहीं आएगा जो जान जानते भी कुछ जानते कुछ नहीं जानते शंख को भी बजाना नहीं आता सबको कोई तो सुंदर बजाएंगे लंबा करे कोई नहीं बजा सकते इसी प्रकार वहीं से भी बीणा भी तबला भी अलग-अलग सब वाद्य कोई बजा जान जानते हैं नहीं अन्य कोई नहीं जानते अब आद्य बजा दिया तो अन्य काम भी नहीं जानते कितने कितने वस्तु पदार्थ है नहीं जानते अभिमान व्यर्थ है इस अभिमान की निवृत्ति के लिए ही गुरु के पास जाते हैं सेवा करते हैं तभी ज्ञान होता है अभिमान की निवृत्ति के लिए अभिमान को बढ़ाए अभिमान करे तो विपरीत मार्ग हो गया जिस उद्देश्य से पर साधु परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए अभिमान करने लगा तो अभिमानम सुरापानम गौरवम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयं त्यक्त्वा सुखी भवेत अभिमान होता सुरा पाने के समान इसे मद्यपान करने पर दिमाग बुद्धि काम नहीं करती कुछ ना कुछ बढ़ता है बस मद्यपान कर लिया तो कहा जैसे और कोई नहीं सम कहे सम्राट मैं ही सम्राट हूँ प्रधानमंत्री मैं ही प्रधानमंत्री अरे तुम क्या कर सकते मैं तो राष्ट्रपति हूँ कुछ भी क्या बोलेगा मद्यपान कर इसी प्रकार अभिमान जब हो जाता है अत्यंत निकृष्ट है अपने को क्या ना कुछ ना कुछ मान लेता है बहुत बड़ा मान लेता है किसी को नहीं प, प, प, मानता ये क्या जानते हैं हम जानते हैं कुछ बोलते बोलते अभिमान करने वाले क्या कह लेते हैं जिसको लघु कौमुदी देख नहीं आता वो बोलता क्या है प्रस्थान दे हम पढ़ा देंगे बृहत प्रस्थान है ये क्या हम भी पढ़ा देंगे हमको क्या कमाते हैं इनको क्या अधिकार है बोलने के लिए क्या लगता है दूसरे सामने बोले अरे हमको जितना आता है यहाँ कोई है किसको है ज्ञान बोले इस एरिया में पूरा आजकल कोई नहीं इतना हमको आता है कुछ नहीं पढ़ने वाले भी कहता है अभिमान करने वाला जो कहेगा जब काम में क्यों कर ना यदि उड़ना है अभिमान करके तो सबसे ऊपर सुरापानम अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम जहाँ गौरव है गुरुत्व है घोर रौरव नरक के समान है प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा प्रतिष्ठा चाहते प्रतिष्ठित हो जाए ये सुकरी विष्ठा स्वर की विष्ठा सुकरी विष्ठा ये तीनों को छोड़ना है तीनों को छोड़ें तो सुखी त्रयम तक्त्वा सुखी भवे अभिमान क्या अभिमान की निवृत्ति इसलिए आख्यायिका है उपनिषद में आगे देवताओं की भी अभिमान देवताओं का अभिमान निवृत्त हुआ परमात्मा की कृपा से परमात्मा कृपा करके अभिमान की निवृत्ति कराते हैं अभिमान की निवृत्ति है तो परमात्मा गुरु गुरु यदि कृपा करेंगे अभिमान की निवृत्ति करेंगे अहंकार को नष्ट करेंगे जो अहंकार अभिमान अधिक है तो उसको यदि बहुत आशा बहुत आशा आप जैसे और कोई नहीं कहेंगे तो अभिमान और बढ़ेगा तो उसके लिए कल्याण होगा अभिमान को बढ़ाए तो नहीं ये अभिमान निवृत्ति के लिए आख्याय का है ऐसे ही सीखना है अभिमान सब व्यर्थ है मंत्र ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमह्यंत त इच्छन्त विजयस्मा कमेवाय महिमेति महिमा इति महिमेति ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञे देवता के लिए ब्रह्म जीत गए असुर को परास्त करके जीत गए ब्रह्म परमात्मा जय की प्राप्त की परमात्मा ने देवताओं के लिए पर ब्रह्म परमात्मा ने देवताओं के लिए जय की प्राप्ति की तस्य ब्राह्मण विजय जय तो परमात्मा की हुई देवा अमहि अंत देवताओं के लिए उसका फल मिला महापूजायाम महिमा को प्राप्त किए देवता लोग असन से उत्कर्ष हो गए ते ऐछंत देवता ने विचार किया जान लिया अस्माकमेवायम विजयो अस्माकमेवाय महिमा अस्म शब्द यदि आत्मा के लिए कहा हम ब्रह्म अस्म शब्द है अस्म शब्द यदि ब्रह्म के लिए कहा हम ब्रह्म तो कोई आपत्ति नहीं शुद्ध चिन्ह मात्र को नहीं लेकर के देहादि में अभिमान करके अस्माकमेव अयम विजयो ये जय हमारी है देवता ने विचार के हमारी जय अशोक प्राप्त कर हमें जीत ले तो हमारी विजय और यह महिमा जो पूजा है एवं महिमा महिमा महत्व महान है अस्मा में अस्मा में अस्म सदस्य शुद्ध आत्मा को नहीं लेकर के मिथ्या देहादि संघात को लेकर के हमारी जय हमारी महिमा ये अभिमान है हमने ऐसा किया मैं ही बड़ा हूँ ये अभिमान उनका हो गया भाष्य में टीका में कुछ रहा हाँ अभिप्रथम तात्पर्य का वचन अधिकार हो गया उत्तमाधिकारी अधिकारी ब्रह्मात्मा तो ज्ञान पहले कहा उत्तरतः तो मंदाधिकारी गोचरम सगुण ब्रह्म उपासना तत्परम वक्षमान सर्व वाक्यातम स्पष्ट विधि दर्शनाथ सगुण उपासना विधान करने के लिए तत्परम वक्षमान सर्ववाक्यम आगे सब जितने वाक्य सगुण ब्रह्म उपासना के लिए नेदम यदिदम उपासते कह करके उपास्य ब्रह्म नहीं है इसे कहा गया उपास्य ब्रह्म नहीं इसका अर्थ नहीं कि उपासना नहीं करो नेदम यदिदम उपास्यते उपास्य भिन्न दृष्टि से जिसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है ये कहा किंतु जब तक अंतगुण शुद्ध नहीं हुआ वैराग्य नहीं हुआ तो सगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए सगुण ब्रह्म पारमार्थिक भेद नहीं एक अद्वितीय तत्व है ब्रह्म किंतु व्यावहारिक भेद है भेद दृष्टि से भी उपासना करनी चाहिए आगे अभेद दृष्टि से उपासना करे उपासना करने से ही अंतगुण शुद्ध होगा इसे उपासना परक कहेंगे अतो अत्रैव तात्पर्यम उपासना सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए ही आगे मंत्र है आख्यायिका है कथा रूप से इसमें ही तात्पर्य अर्थांतर तात्पर्य प्रदर्शन तो संभावना मात्र नित्यष्टव्यम संभावना ईश्वर से सेत अच्छा भाष्य में ब्रह्म यथोत लक्षण ब्रह्म देवेभ्य विजिगे ब्रह्म का अर्थ क्या यथोत लक्षणम यथोतम लक्षण यस्य ब्रह्म का लक्षण कह दिया प्रारंभ में के निश्चितम प्रश्न पूछा उत्तर दिया श्रोत्र से श्रोतम चक्षु से चक्षु मन का मन प्राण का प्राण यही लक्षण है श्रोत्र का श्रोत्र आदि भक्षमान लक्षणम यथोत लक्षण परम ह परब्रह्म ह का अर्थ किल प्रसिद्ध है देवेभ्य अर्थाय देवताओं के लिए जीत लिया तादर्थ्य में देवताओं के लिए विजिज्ञे जयम लब्धवान जय की प्राप्ति की परमात्मा ने जय विजयी हो गए देवानाम असुराणाम च संग्रामे संग्राम देवता असुरों का था देवासुर संग्राम प्रारंभ से चल रहा है उसमें परमात्मा ने क्या क्या असुरान जीतवा जगत रातिन ईश्वर सेतु भेत्रिन देवेभ्यो जयम तत्फलम च प्रायचत जगतस्तेमने जगत की स्थिति के लिए स्थिरता के लिए परमात्मा ही रक्षा करते हैं पालन करने वाला जगत की रक्षा करते धर्म की रक्षा करते वेद की रक्षा करते परमात्मा धर्म रक्षा करने वाले परमात्मा ही ये वो संग क्या क्या पहले देवानाम असुरांच संग्रामे देवताश्रम संग्राम हुआ था असुर को जीत करके जगत अरातीन जगत के अराती शत्रु है ईश्वर सेतु भेत्रिन ईश्वर के सेतु मर्यादा को भेदन करने वाले तोड़ने वाले ईश्वर सेतु ईश्वर के सेतु मर्यादा हे वर्णाश्रम धर्म आदि उसको भेदन करने वाले असुर है वर्णाश्रम धर्म सब परमात्मा की मर्यादा शास्त्र में है जो उसका खंडन करते उल्लंघन करते वो असुर के समान है ईश्वर सेतु भेत्रीन देवेभ्यो जयम तत्परम च असुरों का विशेषण कर दिया जगत अरातिन ईश्वर सेतु वेत्रिन ईश्वर के सेतु को वेदन करने वाले जय जय का फल परमात्मा ने देवताओं को दे दिया देवेभ्य चतुर्थी अंत प्रायचत देवताओं को क्यों दिया जगत स्थेम ने जगत की स्थिति के लिए टीका में ईश्वर से सेतव मर्यादा सेतु मर्यादा वर्णाश्रमादि धर्मा वर्णाश्रम धर्म सो ईश्वर की सेतु मर्यादा तद भेदकान उसका भेदन करने वाले असुर असुर सेतु तो बेहतरीन जीत करके परास्त करके उनको जीत लिया जगत तेमने स्थर्याय स्थिरता के लिए देवताओं को दिया तस्य किल ब्राह्मण विजय तस्य ब्राह्मण विजय देव अमह्यंत जयत परमात्मा की हुई किंतु महिमा पूजा जय देवताओं की फल परमात्मा ने देव देवताओं को दे दिया देवा अग्नि आदयो देवा अमयंत महिमा को प्राप्त की महिमानं प्राप्तवंत महिमा को प्राप्त की देवता तद आत्मसंस्तस्य प्रत्यगात्मन ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रियाफल संयोजयितु प्राणिनां सर्वशक्तिर जगत स्थितिं चिकित्सुर अयम जयो महिमा चैति अजानंत वो देवता लोग को नहीं जान पाए ये जय और महिमा परमात्मा की ये नहीं जान करके आरोप करने लगे अभिमान हमारी ही जय तदा आत्मसत्तस्य अंतकणस्तस्य आत्मा अंतकण अंतकण सम्यक तिष्ठति ते आत्मसंस्थ अंतकण में स्थित है परमात्मा हे तो परमात्मा व्यापक सर्वत्र है अंतकण में उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है साक्षात्कार जो होता अंतकण में ही होता है इसलिए आत्मसत्त हृदय से अर्जुन तिष्ठति अंतकण में स्थित है परमात्मा अंतकण जो परमात्मा स्थित है प्रत्येक आत्मा से अभिन्न है वही ईश्वर है वही सर्वज्ञ है सर्व क्रिया फल संयोजयतु सारे कर्म फल देने वाला वही परमात्मा है प्राणिना प्राणियों को सब कर्म के फल देने वाला सबके हृदय में स्थित है सर्वशक्ति वही सर्वशक्ति वाला है जगत स्थितिम चिकित्सो जगत की स्थिति करना चाहते परमात्मा उनकी ये जय है उनकी महिमा ऐसे नहीं जान करके उन्होंने जीत लिया उनकी महिमा है परमात्मा की ये जब कुछ कोई प्राप्त करता है जीत लिया कुछ अधिक हो गया वो परमात्मा का ही है जो भी आपको प्राप्त होता है परमात्मा की इच्छा से परमात्मा की इच्छा बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है और कुछ अधिक मिल गया उत्कर्ष तो परमात्मा की इच्छा से ये नहीं समझ करके हम में से बड़ा है हमको मिला ये अभिमान है परमात्मा जिसको चाहेंगे उसको बड़ा बना देंगे जिसको चाहेंगे बड़े बड़े बन जाएगा इसलिए परमात्मा की इच्छा से ये हुई ये महिमा जय ये नहीं समझ करके ते देवा इच्छंत इच्छितवंत विचार करने लगे समझ लिए अग्नि स्वरूप परिचिन्नात्मकृत आत्मकृत आदि स्वरूप अग्नि जो स्वरूप है उनका अग्नि स्वरूप देहादि स्वरूप देह इंद्रिय आदि बिला डाला इससे स्वरूप से परिचिन्न आत्मा व्यापक है आपका आत्मा भी व्यापक है किंतु आप देह परिचिन्न मान करके अपने को छोटा मानते हैं अग्नि आदि भी स्वरूप परिचिन्न आत्मकृत परिचिन्न आत्मा होने से अभिमान होता है सर्वत्र आत्मा अपने स्वरूप है आपके आत्मा सर्वत्र है तो किससे आप उत्कर्ष कहोगे आपका आत्मा सर्वत्र है जितने सब शरीर दिखता है आपके आत्मा में अध्यस्त है एक अद्वितीय आत्मा अधिष्ठान है सारे अध्यस्त पदार्थ से आत्मा तो उत्कर्ष है ये एक ही सत्य है बाकी सब मिथ्या है अरे मैं बड़ा हूँ किसके अपेक्षा बड़ा है आपसे भिन्न कौन है अध्यस्त आपके शरीर में अहम करके मैं अब दूसरे से उत्कर्ष यह अभिमान मिथ्या है द्वितीय है ही नहीं अधिष्ठान ही सत्य है तो ये ऐसा नहीं समझ करके देह अभिमान करके अग्नि स्वरूप परिचन आत्मकृत अस्माकम हमारी ये जय ये देह परिचन आत्मा करके हमारी ये विजय अस्माक महिमा महिमा में हमारी है ये यम अय महिमा महिमा शब्द पुल्लिंग है जय भी पुल्लिंग है हिंदी में तिलिंग करते हैं अयम महिमा अग्नि वायु इंद्रत्व आदि लक्षणों क्या महिमा है अग्नि में अग्नि तो वायु में वायु तो इंद्र में इंद्र तो हम जो अग्नि वायु इंद्र ऐसे है हमारा हमारे कारण हम जिस किस पर धन आ गया तो हम कमाते हैं कमाने वाला कुछ नहीं देने परमात्मा आपके कर्म के अनुसार आपके पास आ गया कुछ भी अपने पास है मैंने प्राप्त कर लिया कुछ नहीं जो प्राप्त होता है वही वस्तुतः परमात्मा की इच्छा से वो नहीं समझ करके हमारे में हम में ऐसे अभिमान है जय फलभूत अस्माभिर अनुभूयते जय का फल रूप महिमा हम अनुभव करते हमारी है। न अस्मत् प्रत्यगात्म भूत ईश्वर कृत हमारे जो प्रत्यगात्म रूप ईश्वर है उसके द्वारा नहीं कोई कहते कहाँ ईश्वर कौन है किसने देखा है कोई नहीं कहते उसे कुछ नहीं हम ही सब करते ईश्वर बलवान मैं ही सुखी हूँ आड्यो अभियान मानस असल प्रकृति देहादि में बुद्धि करके हमारी ही जय ये हुआ पदभाष्य हुआ अभी वाक्य भाष्य वही पहले कितने ये सब मुद्रण आगे पीछे होकर के है तेतरी में है ब्रह्म ब्रह्म देवेभ्य इति ब्राह्मणो दुर्विज्ञेत उक्तिर यत्नाधिक्यार्था ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञे ये जो आख्याय के आगे कहेंगे अभी मंत्र हुआ ब्राह्मण दुर्विज्ञेत उक्ति ब्रह्म दुर्विज्ञ है ब्रह्म में दुर्विज्ञता है उसका कथन क्या करते हैं किस लिए दुर्विज्ञ का तो छोड़कर अब चलो भागो क्या ज्ञान नहीं होगा तो क्यों प्रयत्न करना कोई जाकर बैठा सो पांच सात दिन भूखा रह गया ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा सात दिन बैठा तो कहां ब्रह्म ज्ञान होगा और छोड़ो धाम साधना कर क्या लावे उसकी अभी हम जाएंगे कथा प्रवचन करे मकान बनाएंगे आश्रम बनाएंगे छोड़कर भाग गया ये दुर्विज्ञता का अर्थ नहीं छोड़कर भागो करके दुर्विज्ञता किस लिए कहते यत्न अधिक क्या अर्थ अधिक यत्न करना है ऐसे भूखा बैठे साधने ब्रह्म को परमात्मा प्राप्त कर लेना कोई कहता हम हाँ, मौन रह जाएंगे रह जा मौन पेड़ जैसे बन जाओ <laughs> तैसे परमात्मा आ जाएंगे सामने ऐसे नहीं परमात्मा प्राप्ति के लिए अभिमान अहंकार घमंड को छोड़ना है साक्षात्कार ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के सामने जाना पड़ेगा वेदांत श्रवण कर ज्ञान प्राप्त करो और खाली मौन रह गया नहीं तो जटा बना दिया दाढ़ी जटा बना दिया तो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे अथवा कुछ ये सब जो है अज्ञान से अहंकार से ये सब से परमात्मा को अपने अधीन बना देना कुछ नहीं बोलेंगे बस मौन रह जाएंगे तो परमात्मा को आना पड़ेगा ये नहीं खाना छोड़ देने से मौन ये सब कुछ नहीं <clears throat> तपसा अनासके न कहा वितप करना जो नाश करने वाला मानने वाला नहीं भूखा काल रह जाने से हाँ भूखा रहो उपास करो अंतगुण शुद्धि का साधन है किंतु परमात्मा प्राप्ति के नहीं उसके यत्न आदि क्या था जैसे शास्त्र में कहा गया ज्ञान प्राप्ति का साधन वही साधन करना है अपने मन से कुछ करेंगे कोई महात्मा था कोई था शीर्षासन करता था सुबह तीन घंटा शाम को तीन घंटा शीर्षासन कर दे तो सब हो जाएगा शीर्षासन करने से क्या होगा कोई परमात्मा प्राप्ति कोई तो चमत्कार प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं अज्ञान ये सब कुछ नहीं है वेश बनाने से नहीं ज्ञान प्राप्त करना है यत्न अधिक था अधिक यत्न करना है ये सब सामान्य ऊपर उड़ने से बच्चा बचपन है कह कहते इसको ये सब कुछ नहीं है ठीक है मैं ब्रह्म इत्यादि आख्यायिकाया तात्पर्य संगृहित विवृणति आख्यायिकाया षष्ट्यंत या छुटिका आख्यायिकाया आख्यायिका का तात्पर्य संगृहितम संग्रह से कहा गया यत्नाधि क्या अर्थ है यहाँ तक अच्छा हाँ इसके पहले मंगलाचार्य यह सुराणाम जय हेतु रसुराणाम पराजय सत्व प्रधान या शक्त्या संपन्न सोहम ईश्वर यह सुराणाम जय हेतु देवताओं की जय के लिए हेतु कारण है और असुराणाम पराजय हेतु असुरों की पराजय के लिए हेतु कारण ईश्वर वही ईश्वर कैसा है सत्व प्रधान या शक्त्या संपन्न सत्व प्रधान शक्ति माया से युक्त संपन्न है सत्व प्रधान शुद्ध सत्व प्रधान माया से युक्त माया विशिष्ट ईश्वर परमात्मा है शक्ति है माया सत्व प्रधान या शक्तिया शुद्ध सत्व प्रधान विशिष्ट ईश्वर सो हम अस्मि ऐसा जो संपन्न ईश्वर है सो अस्मि ऐसे माया विशिष्ट चेतन में हूँ तो माया विशिष्ट चेतन में हूँ कहेंगे तो भाग त्याग लक्षणा करके शुद्ध में हूँ विशिष्ट मैं एकत्व नहीं है शुद्ध में वाच्यार्थ है ईश्वर लक्ष्यार्थ में एकत्व सोहम अस्मि सोहम ईश्वर कहन से लक्ष्यार्थ लेकर एकत्व होगा और तत्वम से अहम ब्रह्म कहेंगे तो वही अर्थ है ब्रह्म शब्द ईश्वर अहम शब्द जीव वाच्यार्थ एकत्व होगा लक्ष्यार्थ को लेकर के अहम ईश्वर अहम ब्रह्म दोनों में कोई भेद नहीं ऐसे प्रसिद्ध है ईश्वर कहेंगे तो महाविशिष्ट चेतन सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अब ब्रह्म कहते तो शुद्ध ब्रह्म किंतु वस्तुतः शुद्ध ब्रह्म के लिए भी ब्रह्म शब्द ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ शुद्ध ब्रह्म नहीं है शुद्ध ब्रह्म तो लक्ष्यार्थ है ब्रह्म शब्द का हो तत् शब्द का हो ईश्वर का हो लक्ष्यार्थ है वाच्यार्थ ईश्वर का जो वाच्यार्थ है ब्रह्म का भी वही वाच्यार्थ है सर्वज्ञ माया विशिष्ट चेतना इसलिए अहम ब्रह्म अहम ईश्वर में कोई भेद नहीं कोई अहम ईश्वर कहेंगे तो कोई लोग कहेंगे है ईश्वर में कह दिया ईश्वर का लक्ष्यार्थ है कि ब्रह्म का भी लक्ष्यार्थ लेना है समाप्ता ब्रह्म विद्या दिन पुरुषार्थ ब्रह्म विद्या समाप्त हो गई केन उपनिषद में ब्रह्म विद्या का उपदेश हो गया दिन पुरुषार्थ पुरुषार्थ जिसके अधीन है ब्रह्म विद्या से पुरुषार्थ मोक्ष है अत ऊर्ध्वम अर्थवादेन ब्रह्मण दुर्विज्ञे तो उच्यते इसके आगे ब्रह्म दुर्विज्ञ है ब्रह्म में दुर्विज्ञता कही जाती अर्थवाद है अर्थवाद वाक्य के द्वारा स्तुति निंदा अन्यतर वाक्य का आख्यायिक रूप से वाक्य ब्रह्म दुर्विज्ञ कहते हैं दुर्विज्ञ कहने का अभिप्राय क्या जरूरत है तद विज्ञाने कथन नाम यत्नम अधिकम कुर्यादिति दुर्विज्ञ कहने का अर्थ ज्ञान के लिए साधक कैसे यत्न अधिक करे अधिक यत्न करना पड़ता है स्वल्प ऊपर ऊपर से यत्न से नहीं होता है अधिक यत्न करे और उसको प्राप्त करना ही है निश्चय करके यही प्राप्त करना और कुछ नहीं चाहिए ऐसा दिल होकर कोई लगेगा तो प्राप्त कर लेगा अधिक यत्न करें टीका में तात्पर्यांतर महा अन्य तात्पर्य भी कहते हैं समाधि अर्थ व अमनायु अभिमान सातनाथ समदमादि समाधि के लिए भी ये अमनाय वेद आख्याय का आगे क्योंकि अभिमान सातनाथ अभिमान का नाश किया गया अग्नि आदि इंद्र आदि का संग्रह वाक्य ये भी संग्रह वाक्य विवृणति यह समाधि अर्थ व अमनायु अभिमान सातनाथ ये संग्रह वाक्य है उसका विवरण समाधि वा ब्रह्म विद्या साधन विदितम तदर्थयम अर्थवादामनाय समदमादि ब्रह्म विद्या का साधन विदातु मिष्टम विदितम उसके लिए अर्थवाद आगे नहीं समाधि साधन रहितस्य अभिमान राग द्वेषादि युक्तस्य ब्रह्म विज्ञान सामर्थ्यमस्ति समाधि साधन नहीं है और अभिमान राग द्वेषादि युक्त है ब्रह्म ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है व्यावृत बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वाद ब्रह्मण व्यावृत बाह्य मिथ्या प्रत्यय व्यावृता बाह्य मिथ्या प्रत्यय यस्य जिसके मिथ्या प्रत्यय मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गई ऐसा जो अधिकारी तेन ग्राह्यत्वाद ब्रह्मण वो ब्रह्म को ज्ञान ज्ञान जान सकता है यस्मा अग्नि आदि नाम जयाभिमानम साधयति ये परमात्मा अग्नि आदि के जय अभिमान को नष्ट कर देते हैं ततस्य ब्रह्म विज्ञानम दर्शयति अभिमान उपसमे आगे आख्यायिका दिखाते ब्रह्म विज्ञान कब होता है अभिमान उपसमे अभिमान निवृत्त होने पर ब्रह्म विज्ञान अभिमान से ज्ञान नहीं हो सकता है तस्मा समाधि साधन विधान तोयम अथवाद इति अवश्यते इसलिए ये आगे का अर्थवाद आख्यायिका समाधि साधन विधानार्थ समदमादि साधन विधान करने के लिए अर्थवाद इति अवश्यते अवश्यते कहते निश्चयते निश्चय करते और आगे दूसरा भी तात्पर्य कहेंगे सगुण अथवा ओम आप्यायन